देखो खालिद मुझे पता है कि तुम इस तरह के काम में एक्सपर्ट हो और तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत आसान है तभी मैं तुम्हारे पास आया समझ रहे हो ना तुम इतना कहते हुए विक्रांत ने वहाँ कैटल उठाकर कम में चाय उड़े ली और फिर इसे पीने लग गया खालिद की एक खास आदत ये थी कि यह बंदा चाय का बहुत शौकीन था और इसका चाय की पत्तियों का भी धंधा था यह हमेशा चाय पीते ही मिलता था विक्रांत की बात सुनने के बाद खालिद कुछ देर तक शांत होकर उसकी तरफ देखता रहा पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि विक्रांत उसे सच में कोई काम करवाना चाहता है या फिर किसी जाल में फंसाकर जेल भेजने की साजिश कर रहा है कुछ देर तक सोचने के बाद उसने जवाब दिया मैं मैं कैसे कर सकता हूँ जो काम पुलिस नहीं कर सकती भला मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ सॉरी मैं ये सब नहीं करता हम्म, चलो फिर भाई क्या ही कहें नहीं कर सकते तो विक्रांत ने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा अच्छा अच्छा खालिद ये बताओ वो चिन पोखली वाला चौल किसके पास पड़ा था वो तुमने खरीदा था या नहीं किसी से अरे नहीं नहीं तुमने उसे खुद ही बनवाया था मैं तो भूल ही गया था चौल का नाम सुनकर खालिद के माथे पर पसीना आने लग गया दरअसल खालिद ने वो चौल गैर कानूनी तरीके से बनवाया था और विक्रांत को ये बात अच्छे से पता थी वो ऐसा है ना अभी हम पुलिस वालों को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि इलीगल प्रॉपर्टी का ऑडिट करके उसके विरुद्ध अभियान चलाया जाए विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा वैसे तुमने तो खुद ही जमीन खरीद कर बनवाया था न चौल विक्रांत की धमकी तुरंत ही खालिद को समझ में आ चुकी थी ठीक है ठीक है मैं कोशिश करूंगा लेकिन उसमें मेरा भी कमीशन फिक्स होगा और जो भी खर्चा होगा वो सब तुम्हें देना होगा खालिद ने जवाब दिया अरे अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो नहीं होता तुमसे तो रहने दो कोई बात नहीं विक्रांत ने हंसते हुए कहा लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो मेरा मतलब लीगली तुम ये काम कर सकते हो अरे साहब लीगली ही हो तो ये काम हो जाता तो आप भला मेरे पास क्यों आते खालिद ने जवाब दिया आपका काम हो जाएगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए मैं लीगली करूं या इलीगली ये मेरा टेंशन है आप बीच में मत पड़ना विक्रांत ने बड़े ध्यान से खालिद की बात सुनी और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा मैं तो बस ये कह रहा था कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी कि तुम्हारा चौल इलीगल है लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ <laughs> धूर्त लोगों से कैसे काम करवाया जाता है ये विक्रांत को बहुत अच्छे से पता है विक्रांत को पता है कि कौन सा पासा कब और कहाँ फेंकना है खालिद ने पहले तो विक्रांत को कुछ सेकंड तक घूरा और फिर उसने अपना मन मारते हुए कहा अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा मत दीजिएगा आप कमीशन और और मैं खर्चा भी जो होगा देख लूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपको कम से कम पैसे में ये जिम आपको मिल जाए खालिद को पता था कि विक्रांत से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है अगर उसका दिमाग फिर गया तो बिना मतलब का बवाल झेड़ना पड़ेगा <laughs> अरे thank you thank you Vikrant ने जोर से हंसते हुए कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ तुम ध्यान रखना अपना हाँ ये ये पैर तो ठीक हो गया ना तुम्हारा चलो चलो आराम करो विक्रांत उठ खड़ा हो गया साथ में उसने अपने हाथ में वहां रखा हुआ चाय का एक बड़ा सा डिब्बा भी उठा लिया अच्छा फिर मेरा नंबर ले लो और जैसे कुछ काम हो तुरंत फोन कर देना विक्रांत ने अपना फोन नंबर खालिद को नोट करवाया और फिर वहाँ से चाय का एक पूरा डिब्बा लेकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया सारा चाय बहुत पीता है ये इसकी वैसे इसकी चाय भी अच्छी थी गाड़ी में बैठे बैठे विक्रांत चाय के डिब्बे को देखते हुए बोल पड़ा उधर खालिद विक्रांत को जी भर के गालियां दिए जा रहा था साला हरामी मुफ्त की चाय भी ले गया जिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद विक्रांत बहुत खुश था उसे पूरी उम्मीद थी कि खालिद उसका ये काम जरूर कर देगा अभी विक्रांत यहाँ से निकल ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा विक्रांत ने फोन निकाल कर देखा तो पता लगा कि ये नैना की कॉल थी अब जाकर विक्रांत को याद आया कि उसका आज का कोडवर्ड पानी था जिसका मतलब लड़की से होता है हेलो विक्रांत पता है आज क्या हुआ नैना बहुत खुश लग रही थी आज तक उसने कभी भी विक्रांत से इस तरह फोन पर बात नहीं की थी क्या हुआ विक्रांत ने उत्सुकता पूर्वक सवाल किया आज मैं अपने पुलिस स्टेशन के पास वाले मार्केट में गई थी जानते हो ना वो मार्केट जो तुम्हारे घर के पास में ही है मतलब पुलिस स्टेशन और तुम्हारे घर के बीच में हाँ हाँ जानता हूँ बताओगे क्या हुआ विक्रांत ने पूछा वहाँ मुझे एक औरत मिली थी उसने मुझसे कहा कि मैं उनकी बहू हूँ हाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी विक्रांत ने हंसते हुए कहा लेकिन फिर अगले ही पल वो सन्न रह गया क्या अरे उसने कहा कि उसके बेटे का नाम विक्रांत सक्सेना है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा अब तुम बताओगे इसका मतलब क्या है जब विक्रांत वापस घर लौटा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी कभी हो सकता है वह नैना अपने पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए माँ के साथ किचन में मोमोज बनवा रही थी नैना अपने हाथों से मोमोज तैयार कर रही थी जबकि माँ स्टोव के पास खड़ी मोमोज पका रही थी ये नजारा देख विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो अवाक होकर खड़ा रहा बेटा आज तो तू बहुत जल्दी आ गया माँ ने विक्रांत की तरफ बिना देखे बोल पड़ी देखो आज का गजब इत्तेफाक हो गया आज मैंने सोचा कि तेरे लिए मोमोज बना दूं तुझे बहुत पसंद है फिर मैं सामान लेने के लिए मार्केट गई थी वहां मुझे बहू मिल गई फिर मैंने सोचा चलो ये तो और अच्छी बात है मैंने इसे भी मोमोज खाने के लिए घर पे इनवाइट कर दिया मैंने सोचा कि देखूं मेरी बहू को खाना बनाना आता है या नहीं <laughs> क्या बहु हे भगवान विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया लो खत्म मेरी लव स्टोरी आज तो नैना मेरी जान ले लेगी लेकिन नैना को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो माँ के साथ बहुत खुशी मन से काम कर रही है विक्रांत ने उसकी तरफ देखकर साइड में आने का इशारा किया उसके बाद वो खुद बेडरूम की तरफ चला गया जैसे नैना बेडरूम में आई विक्रांत ने धीमी आवाज में उससे पूछा ये सब क्या कर रही हो तुम यहाँ क्यों आई ओ रियली तुम मुझसे पूछ रहे हो नैना ने विक्रांत को आंखें दिखाते हुए कहा यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए डफर क्या कहा तुमने अपनी माँ से हम्म अब जाकर विक्रांत को याद आया कि ये सब रायता क्यों फैला हुआ है